नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए मन श्वास पर मन में परमेश्वर की भावना सर्वद्रष्टा प्रत्येक विचार और भावना को जानने वाले मेरे प्रत्येक कर्म को जानने वाले परमेश्वर ध्वनि के लिए श्वास पर ओ Oh. दो प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो कोई खोट इसमें रहने न पाए कोई खोट इसमें उपस्थित शिविरार्थी महानुभाव आत्मनिरीक्षण में हम अपने कर्मों को देखते हैं अच्छे और बुरे जो भी हम कर रहे हैं आत्मनिरीक्षण सायकाल या रात्रि में सोने से पूर्व किया जा सकता है पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट लेकिन जब हमारे को आत्मनिरीक्षण की आदत हो जाएगी अभ्यास होगा तो हम हर समय आत्मनिरीक्षण को कर पाएंगे अंत में भी देखा जा सकता है एक मोटा आकलन दिन भर का महीने भर का लेकिन प्रत्येक कर्म को भी देखा जा सकता है और आत्मनिरीक्षण में अपने कर्मों को अच्छों को भी देखना होता है सामान्यतया ये कहा जाता है अपने तो दोष देखो और दूसरों के गुण देखो ये वाक्य या प्रेरणा किसी विशेष संदर्भ में की गई है क्योंकि हम प्राय अपने गुण देखते हैं और दूसरों के दोष देखते हैं इस अति को या एक तरफा भावना को संतुलित करने के लिए ये किया जाता है कहा जाता है लेकिन आत्मनिरीक्षण में जब हम आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण करते हैं तो दोनों को तटस्थता से देखना होता है तो कहते हैं कि यदि हम अपने गुणों को देखेंगे तो गर्व हो जाएगा घमंड हो जाएगा और वो योग साधना में बाधक है हानिकारक है इसलिए अपने गुणों को तो नहीं देखना चाहिए लेकिन अपने दोषों को देखना चाहिए ताकि हम सुधर सकें हमारे जीवन में दोनों ही तरह की अवस्थाएं आती हैं कभी हम अभिमान में गर्व घमंड में भी जाते हैं तो कभी हम हीन भावना में आत्मग्लानी में अवसाद में भी जाते हैं जीवन में होता रहता है ये दोनों ही मनोभाव है और हमारे वातावरण हमारे विचार का प्रभाव पढ़ के ये दोनों ही बातें हमारे जीवन में हो सकती अभिमान जितना हानिकारक है घमंड जितना हानिकारक है अधिक हो उतना ही अवसाद निराशा ग्लानी आत्मग्लानी ये भी हानिकारक है और हमें अपने को दोनों से बचा करके रखना होता है अपने कर्मों का आकलन तो करना ही है हमें अच्छा किया है तो पता रहे कि मैं इतना कर पाया कोई दोष नहीं है इसमें ये कोई घमंड की बात नहीं है ये एक शुद्ध आकलन है अपना घमंड तब होगा जब हम बढ़ा चढ़ा के या वैसे ही बिना पूछने पर भी लोगों को बताते रहे देखो मैं ऐसा हूं देखो मैं ऐसा करता हूं ये अब घमंड गर्भ में चला जाएगा कोई हमसे पूछता है जिज्ञासु साधक हमारे को देख करके किसी को प्रेरणा हुई कि ये तो बड़े महाशय हैं सज्जन हैं औरों से कुछ अलग है वो पूछने आया कि आप क्या क्या करते हैं आपने क्या क्या किया ऐसे जिज्ञासु को बता बता सकते हैं कि मैं ऐसा करता हूं इन इन नियमों का पालन करता हूं अपने गुण भी बताए जा सकते हैं उसकी प्रेरणा के लिए इसमें भी कोई घमंड नहीं है कोई हानि नहीं है अध्यात्म में बल्कि ऐसा करके हम किसी एक और आत्मा को प्रेरित कर रहे होते हैं इस अध्यात्म मार्ग में बढ़ने के लिए और ये पुण्य का कार्य है नहीं तो समाज को देख देख करके व्यक्ति के मन में ये भावना आ जाती है कि सब ऐसे ही है जो झूठ छल कपट करते हैं वो तो करते ही हैं जो अपने को धार्मिक सज्जन आध्यात्मिक कहते हैं वो भी छल कपट और झूठ बोलते रहते हैं देख लिया मैंने सबको सब ऐसे ही कुछ नहीं रखा इन बातों में ये सब शास्त्र की बातें हैं शास्त्र तक ठीक है व्यवहार में नहीं आ सकती है अव्यवहारिकता है जो हमारे से बड़े हैं आयु में जो हमसे अधिक विद्वान हैं ज्ञान में जो हमारे से ऊंचे पद पर हैं प्रतिष्ठा में उनको भी जब हम ऐसा ही करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि तो ऐसा ही चलता है ऐसा ही चलता है कर सकते तो यही नहीं कर लेते ऐसा ही होता है यदि जन सामान्य में ये बात जा रही है तो ऐसा ही होता है कहने की बातें जो इसके लिए उत्तरदायी हैं उनको पाप लगेगा एक अच्छी चीज के लिए धर्म के लिए न्याय के लिए योग अध्यात्म के लिए यदि विपरीत छवि जाती है हमारे कारण से विपरीत छवि बनती है तो उसमें हम निमित्त बनते हैं और वो व्यक्ति उससे हटेगा वो दो पांच लोगों को कहेगा कि ऐसा ही है मैंने तो देख लिया कुछ नहीं उसके मन में कुछ अच्छे संस्कार उभरे भी हों इच्छा हुई हो वह तो उत्साहित हो जाए तो यदि हम कुछ स्तर पर चल रहे हैं जिस भी स्तर पर कोई बात नहीं हम बहुत सी चीजें नहीं कर पा रहे और उसको जान के समझ के किसी जिज्ञासु को बताते हैं तो ये घमंड में नहीं आएगा प्रेरणा है धर्म को बढ़ाने की इच्छा है अध्यात्म को बढ़ाने की इच्छा है किसी के अंकुरित हो रहे संस्कारों को उभारने की इच्छा है पुण्य का कार्य अपने गुण भी देखने होते हैं और अपने दोष भी देखने होते हैं जब हम उत्साह में घमंड में जाते हैं उस समय अपने को संतुलित करने के लिए हमें हमारे दोष हमारे दोषों का स्मरण बहुत उपयोगी होता है जब भी लगे कि अपने आप या दूसरों की प्रशंसा के कारण से दूसरे हमें बहुत अच्छा समझ रहे हैं कुछ गुण हमें अच्छे भी हैं और उन्होंने हमारी प्रशंसा करनी शुरू की बातचीत में अनेक लोगों के बीच में मंच पर लेख में तो हमें तो अपने को संतुलित रखना है तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय बनता है कि हम अपने दोषों को स्मरण करने लग जाएं? नहीं अभी मेरे में ये कमी है अभी मेरे में ये कमी है अभी ये इतना नहीं हुआ है ये दोष मेरे में है ये हमें संतुलित करने का प्रयास करते हैं हम गुब्बारे की तरह फूलेंगे नहीं और फटेंगे नहीं यदि हमें ये संतुलन करना आता है तो उसके लिए हमारे दोष यदि हम जानते हैं देखते हैं तो हम उस समय स्मरण कर सकते हैं उपस्थित कर सकते हैं अनुभूति के स्तर पर प्रबलता से नहीं तो जब प्रशंसा होने लगे लोग तालियां बजाने लगे वाहवाही करने लगे तो अपने दोष याद आना कठिन होता है उसको वही अच्छा लग रहा होता है लेकिन आत्मनिरीक्षण करने वाले को पता रहता है और वो एकदम से उभार लेगा तैयार है उसके पास संतुलित कर लेगा इसी तरह से जब निराशा हताशा आत्मग्लानी किसी दोष के होने पर अवसाद आता है तो उस समय हम अपने गुणों का स्मरण करके कि मैंने इतने समय से ये ये किया है ये तपस्या की है ये साधना की है इन इन चीजों का पालन मैंने किया है कर रहा हूं इतने तक तो मैं चल करके आया हूं एक स्तर बनाया मैंने अपना उसको स्मरण करके हम निराशा अवसाद से उभर सकते हैं नहीं तो ये निराशा अवसाद कई बार ऐसा होता है कि एक बार उभर गया तो व्यक्ति उसी में घुसता जाता है घुसता जाता है अंदर ही अंदर धसता जाता है अपने आप को निकाल नहीं पाता बड़ा कठिन हो जाता है तो हमें अपने दोनों ही कर्मों को देखना है अच्छे और बुरे कर्मों का एक रूप होता है बाहर का बाहर हम क्या क्या करते हैं अब एक व्यक्ति दान देता है सेवा करता है बाहर कई जने दिखेंगे ये दान दे रहे हैं सेवा दे रहे हैं गाय को चारा दे रहे हैं कबूतरों को दाना दे रहे हैं अंध विद्यालय मूक विद्यालय में कुछ दान दे रहे हैं ये ऊपर से बहुत लोग ऐसा करते हुए दिखेंगे लेकिन उनके वो कर्म क्यों हो रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये भिन्न भिन्न हो सकता है जैसे कि यहां कोई नया व्यक्ति आए ये सुनकर के कि यहां लगभग 250 व्यक्ति मौन साधना में है ध्यान साधना में चल रहे हैं दूर दूर से आए वो देखेगा तो लगभग सब एक जैसे दिखेंगे एक जैसी दिनचर्या में चलते हुए लेकिन यहां शिविर में आने के अलग अलग कारण होंगे आपके कोई वास्तव में ध्यान साधना सीखने आया है कोई केवल उत्सुकता से आया कि देखते हैं क्या होता है देखे ऋषि उद्यान में कैसा शिविर लगता है कोई अपने साथी यानी पति या पत्नी के कारण से आया है कि भाई इनको चलना है तो हम भी साथ में चलेंगे किसी को जबरदस्ती भेजा गया है बहुत से कारण हो सकते हैं बाहर से एक जैसे कर्म दिखते हुए भी अंदर का कारण भिन्न भिन्न हो सकता है अब जो दान दे रहा है चारा दे रहा है गाय को तो कोई उस भावना से हो सकता है कि इनकी सेवा करनी है गायों की अच्छे कार्य में सहयोग करना है कोई इसलिए दे रहा है कि वैसे तो बहुत बुरा कमाया है चलो थोड़ा सा दान करते हैं तो वो पाप भावना कम हो जाएगी मन में ग्लानी कम हो जाएगी दान का उद्देश्य नहीं मुख्य है जो गलत कार्य किए हैं उससे अपनी ग्लानी को दूर करने के लिए थोड़ा संतोष पकोलने के लिए अपने को थोड़ा दे रहा है अलग बात है दिखने में तो वो भी दान देता हुआ दिख रहा एक है कि सेवक है भाई मेरे मालिक ने कहा इसकी दे करके आओ इसलिए मैं दे रहा हूं वो उसका अपना तो कुछ देना है नहीं वो तो सेवा में है नौकरी में किसी को प्रलोभन दिया है कि भाई चलो दे करके आ जाओ ये गाय को चारा दे दो आपको एक मिठाई देंगे ऐसे ही तनाव दबाव में धमका करके भी ये कार्य किए करवाए जा सकते हैं तो आत्मनिरीक्षण में जहां हमें अपने कर्मों को बाह्य रूप से देखना होता है उसके साथ साथ इसका अगला चरण यह है कि हम ये देखें कि मैं ये क्यों कर रहा हूं नहीं तो केवल बाहर के कर्मों को देखने से हम बहुत ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे आत्मनिरीक्षण की सूक्ष्मता में नहीं जा पाएंगे मैं कर क्यों रहा हूं ये इस कार्य के पीछे मेरा प्रयोजन क्या है और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है वेद का अध्ययन वेद का प्रचार ऐसे ही बहुत कारणों से हो सकता है तो इसलिए वेद पढ़ रहा है कि मेरे को नौकरी लग जाएगी जीवन चल आजीविका के लिए पढ़ रहा है कोई इसलिए पढ़ रहा है कि माता पिता ने जबरदस्ती भेज दिया है कोई इसलिए पढ़ रहा है कि मैं जानू परमात्मा ने वेद में क्या कहा है मुझे अपना जीवन बढ़ाना है मुझे ज्ञान प्राप्त करना है विवेक प्राप्त करना है भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं और कर्मों का फल हमारी इस भावना के ऊपर बहुत निर्भर करता है बाहर का भी अपना रूप है लेकिन अंदर का रूप कारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है तो एक दूसरा चरण है नीचे जाने का गहराई में जाने का कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आप लोग जो दिनचर्या में चल रहे हैं उसमें देखें कि मैं क्यों इसको पालन कर रहा हूं मौन हो या और दूसरी दिनचर्या हो मुझे साधना करनी है मुझे अध्यात्म मार्ग का अभ्यास करना है तपस्या करनी है इसलिए कर रहा हूं और यहां नियम बने हुए हैं अनुशासन है तो मेरे को और अनुकूलता हो गई कोई व्यक्ति केवल इसलिए कर रहा है क्या शिविर में तो रहना है अब आ तो गए नहीं करेंगे तो टोकेंगे इसलिए चल लो अब ये बिल्कुल अलग बात हो गई चल तो रहा है लेकिन कारण अलग है कर्मों से हमें दो चीजें मिलती हैं एक तो कर्माशय यानी पाप और पुण्य जो भी हो अच्छे बुरे कर्म का और दूसरा है उस कर्म का संस्कार जो हमारे पे छाप पड़ती है भावनात्मक संस्कार पड़ता है भावना रूप संस्कार तो दोनों चीजें होती है प्राय करके धार्मिक व्यक्ति पाप और पुण्य के स्तर पर जीता है अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं वो ये सोचते हैं कि इसमें पुण्य है इसमें पाप है ये अच्छा है ये बुरा है ये धर्म है ये अधर्म है कर्मों के स्तर पर जीते वो भी बहुत अच्छी बात है लेकिन यदि हमें अध्यात्म में कुछ गहराई में जाना है तो हमें दूसरे पक्ष को भी ध्यान में रखना होगा बल्कि दूसरे पक्ष को और अधिक ध्यान में रखना होगा तो दूसरा पक्ष है संस्कारों का साधना में हमारा कर्माशय भी सहायक या बाधक बनता है लेकिन हमारे संस्कार उसमें बहुत अधिक सहायक और बहुत अधिक बाधक बनते हैं हमने पुण्य कर्म किए परोपकार किया बहुत मेहनत की ईमानदारी से बहुत कमाया कर्म तो अच्छे हो गए हमारे अब उस प्राप्त धन का उपयोग हमने भोगों में किया खूब सुख सुविधाओं में रहे खान पान उसके संस्कार डाल लिए अपने पे अब साधना करने बैठे तो साधन तो है हमारे पास ठीक जगह है मक्खी मच्छर की कोई दिक्कत नहीं शांत एकांत कमरा है अनुकूलता है आसन प्राणायाम ध्यान की इतना तो मिल गया उसको कर्माशय से या मेहनत से लेकिन अब बैठ करके जो विषयों के संस्कार विचार उभर रहे हैं उसका क्या करेंगे तो कर्म करते समय हम किस भावना से किस विचार से उस कार्य को कर रहे हैं वो हमारे संस्कार डालता है और संस्कारों की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि हम किस विचार और भावना से उस कार्य को कर रहे हैं और ये इतनी बड़ी बात है इतनी बड़ी बात है कि हमारे यहां कर्मों को इसी आधार पर दो भागों में बांटा गया एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म सकाम कर्म और निष्काम कर्म इस विभाजन का आधार क्या है कर्म का बाह्य रूप इसका आधार नहीं है उस कर्म को करने के पीछे हमारी क्या इच्छा है क्या कामना है क्यों हम उसको कर रहे हैं भावना क्या है ये निर्भर करता है और सकाम और निष्काम कर्म इतने महत्वपूर्ण है और इतने भिन्न है कि निष्काम कर्म मुक्ति की तरफ ले जाता है और सकाम कर्म बंधन में ही रखता है एक बंधन और एक मुक्ति कितना बड़ा अंतर है जैसे रात और दिन का अंतर है कर्म के बाह्य रूप के कारण से ये सकामता निष्कामता नहीं बनी हमारा बंधन और मोक्ष कर्म के बाह्य रूप पर मुख्य निर्भर नहीं है अंदर किस कामना से किस प्रयोजन से हमने ये कर्म किया उस पर निर्भर है जितने बुरे कर्म हैं अधर्म हैं वो तो सब सकाम ही होते हैं लेकिन पुण्य कर्म सकाम और निष्काम दोनों तरह के हो सकते हैं तो जब हम अध्यात्म में गहराई से चलना चाहते हैं तो कर्म के साथ हमें ये सोचना ही होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं प्रयोजन क्या है मेरा बाहर लोगों को अधिक पता नहीं लगेगा थोड़ा पता लग जाता है कि हाँ ये कर्म कर रहा है क्या भावना है कुछ स्पष्ट पता लग जाती है ये हम ही जान सकते हैं ठीक तरह से मैं कर क्यों रहा हूं और यदि हम कर्मों के बाह्य रूप में ही रहे भले ही वेदोक्त कर्मों को करते रहे शुभ कर्मों को करते रहे लेकिन ये नहीं देखा कि कामना क्या है यहां पर प्रयोजन क्या है निमित्त क्या है तो उन अच्छे कर्मों को करते हुए भी हम आगे अपने लिए बंधन में ही रहेंगे ठीक है अच्छे पुण्य के कारण अच्छी स्थितियां मिल जाएंगी लेकिन अध्यात्म का प्रारंभ केवल कर्मों से नहीं होता उसकी शुरुआत तब होती है जब हम सोचने लगते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं तो जो भी कर्म आप कर रहे हैं अब उसके साथ ये भी देखिए क्षम्यता ओ ओ क्षमा कीजिए जब भी आप कुछ कर्म करें यहां या घर पर मैं ये क्यों कर रहा हूं हम धन के लिए ऐसा कर सकते हैं हम संतान या शिष्यों के लिए ऐसा कर सकते हैं लोग मेरे साथ ज्यादा जुड़े और हम यश के लिए ऐसा कर सकते हैं सम्मान के लिए ऐसा कर सकते हैं और हम ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसा कर सकते हैं शुभ कर्मों को जब हम धन के लिए संतान या शिष्यों के लिए या सम्मान के लिए करेंगे तो ये सकाम कर्म हो जाएंगे और जब हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए उन्हीं कर्मों को करेंगे उन्हीं शुभ पुण्य कर्मों को करेंगे वो निष्काम हो जाएंगे तो अध्यात्म की यात्रा तो मुक्ति की तरफ की यात्रा है ये बंधन की तरफ की यात्रा नहीं है और इस यात्रा को यदि हमें करना है तो निष्कामता की बात लानी होगी और वो तभी ला सकते हैं जब हम पहले पता करें कि मैं क्यों कर रहा हूं इसको और धीरे धीरे अपनी कामनाओं को कम करते हुए और हम निष्काम बनते जाए आज शिविर का चौथा दिन पूरा हो रहा है प्रसन्नता है प्रसन्न है अच्छा है तो प्रसन्न है या उदास है प्रसन्न है प्रसन्नता का कारण क्या है प्रसन्नता का कारण क्या नहीं मैं दिन की बात कर रहा हूं चार दिन बीत गए प्रसन्नता की क्या बात है चार दिन बीत गए बचे कितने केवल दो बचे किसी को दुख भी हो रहा है चार दिन बीत गए दो ही दिन बचे हैं अब तो दो दिन बाद चले जाएंगे शिविर कुछ और बड़ा होता तो अच्छा रहता अलग अलग भावनाएं होंगी आपके तो आप में से बताइए कोई हाथ खड़ा कीजिएगा जिनका पिछले चारों दिनों में आज का दिन सबसे अच्छा बीता हो अपने अपने चार दिनों में आज का चौथा दिन जिनका पिछले तीन दिनों से अच्छा गुजरा हो वो हाथ खड़ा करेंगे अच्छा कम है अच्छा जैसा पिछला बीता तीसरा दिन अच्छा बीता वैसा ही आज भी अच्छा बीता वो हाथ खड़ा करेंगे कम जने हैं वैसे मेरे को लग रहा है कि आप लोगों ने प्रयास तो आज ज्यादा किया है आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने आज पहली बार पूरा मौन का पालन किया अभी तक नहीं कर पाए थे लेकिन आज मौन का पालन किया ठीक है कई जने हैं अच्छा ऐसे कितने हैं जो पहले तो साथ साथ चला करते थे आया जाया करते थे और अब अकेले चले अच्छा पंद्रह बीस है दस पंद्रह है अच्छी बात अच्छा लगा या बुरा लगा और कई बार प्रयास ज्यादा करते हैं तो प्रसन्नता समाप्त भी हो जाती है अच्छा आप में से जो सज्जन ऐसे हो जिनको आज कुछ विशेष अनुभूति हुई हो इतने व्यक्ति हैं अभी अभी नीचे कीजिए जो गंभीरता से चलते हैं पहले दिन दूसरे दिन चौथे दिन छठे दिन सातवें दिन किसी को कभी किसी को कभी किसी को जल्दी किसी को देर से अच्छी अनुभूतियां हो सकती हैं बहुतों को हो सकती हैं देखिए एक दो दिन तो यूं ही निकल जाते हैं देखने में संभलने में क्या है समझ में ही नहीं आता क्या करा रहे फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है फिर थोड़ा थोड़ा करने लगता है जो एकांत साधना में भी जाते हैं लंबे समय तो कुछ दिन शुरू के तो उनको गंभीरता में उतरने में लग जाते हैं एकदम सब नहीं जा सकते कोई कहे कि मैं एक महीने की मौन साधना एकांत साधना में जा रहा हूं तो जाते ही पहले दिन से ही शुरू हो जाता है ऐसा नहीं होता है जो जीवन का संस्कारों का प्रवाह है जैसा हम जीते रहते हैं वो आते हैं उभरते हैं धीरे धीरे शांत होते हैं नए संस्कार बना नहीं रहे हैं अपने को नियंत्रित कर रखा है धीरे धीरे शांत होते होते कुछ दिनों के बाद दस दिन पंद्रह दिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारी स्थितियां बनती चली जाती हैं तो आप में से कुछ से पूछेंगे जिनको आज कुछ विशेष अनुभूति हुई हो और वो बताना चाहते हो हाथ खड़ा करेंगे इनको दीजिए और इनको दीजिए एक उनको दीजिए आप हाँ, बताइए इधर से भी कोई होंगे तो बताइए संक्षेप से मूल बात बताइए मैंने पूरी कोशिश से किसी पर नहीं देखा समय अनुभव किया कि जो खुशी नहीं देख पाए गौरव नहीं देख पाया जितने से काम चल रहा है उतना देखता है तो वह एक हासिल कर देता ठीक है धन्यवाद बैठिए बताइए चालू कीजिए उसको ध्यान किसी तरफ में नहीं गया नहीं देखा तो अपने आप को देखने में ये लगा कि हम अब कितने और एकांत उपवास करेंगे तो और हम टाइम कर सकेंगे बैठिए बैठिए देखिए हमारे मस्तिष्क की क्षमता सक्रियता यद्यपि बहुत अधिक है लेकिन फिर भी सीमित है यदि हम बाहर की चीजों में अधिक समय लगाएंगे विचारेंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ अंदर की चीजों के लिए समय और शक्ति हमारे पास कम बचेगी नहीं कर पाएंगे शक्ति सामर्थ्य हमारे पास जितनी है उतनी है ठीक है मेहनत करके हम बढ़ा सकते हैं लेकिन अभी जितनी है उतनी ही है उसको हम केंद्रित यदि अपने पे कर पाते हैं तो हमें अपने आप में ऐसी बहुत सारी बातें मिलेंगी जो हम पहले खुद नहीं जानते थे कि मैं ऐसा अच्छा हूं या मैं ऐसा बुरा हूं अपनी शक्तियों को बिखरती शक्तियों को समेट करके एक तरफ अंदर लगाना बस उसी के लिए तो ये है दूसरों को नहीं देखना मौन करना हम अपने को अंदर कर सकते हैं इधर कोई बताना चाहेंगे माताओं बहनों में से दीजिए इनको और कोई जो अब तक नहीं बोले हैं वो हाथ खड़ा कीजिए जो बोल चुके हैं वो हाथ खड़ा नहीं कीजिए जी कि को सभी लोग ठीक है ये तो आपको सबको मिलेगी वो चिंता मत कीजिए कैमरे वालों के पास आप ही गई थी क्या एक माता जी कैमरे वालों के पास गई थी पूछने के लिए मौन है मौन रखिए वो चिंता आप हम पे छोड़ ही दीजिए तो चित्र आएगा लगेगा आप छाटेंगे और जिन जिन को चाहिएगा उस पर मूल्य भी रहेगा उनको सबको मिल जाएगा वो निश्चिंत रहिए अब ये विचार इनके मन में बहुत देर से चल रहा होगा और जो बातें जो चल रही है वो तो सब गई चलो मैं आपसे पूछता हूं अब आप ही का आत्मनिरीक्षण करते हैं आप होंगे खड़ी थोड़ा सा इतना साहस किया है तो मेरे एक दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप फोटो क्यों चाहती हैं इसलिए कि इस सीरियल की मुझे बार बार याद आई भविष्य में कभी कुछ गलती होगी तो उस सीरियल में सबकी तस्वीर देखी याद है इसलिए गलती तो तस्वीर को देखने से गलती कैसे याद आएगी आप <laughs> चलो हो सकता है कि भाई यहाँ आपको गलत आपके जो विचार है आपके जब तस्वीर देखेंगे तो वो विचार उभर के आ जाएंगे तो फिर तो मेरी तस्वीर ही ले लेते सबकी तस्वीर क्या नहीं ब्रह्मचारी तो थे ही नहीं उसमें नहीं अध्यापक लोग थे हाँ, नहीं वो तो शिविरार्थी हैं इसलिए गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी हैं वो उसमें सम्मिलित नहीं थे वो शिविरार्थियों का था बैठिए देखिए इसके पीछे भी बहुत प्रयोजन हो सकते हैं किसी भी कार्य पे आप देखेंगे अच्छी स्मृति के लिए भी हो सकता है कि देखो मैंने एक शिविर किया था ऐसा ऐसे ऐसे नियम थे और मैंने किया अच्छे इसमें उनका गलतियां याद आएंगी वहां टोका जाता था और ये भी तो है कि देखो हमने वहां शिविर में भाग लिया था दूसरों को दिखाने के भी तो काम आएगा आस पड़ोस वालों को और परोपकार की भावना हो तो बच्चों को बताने के लिए हमारे बच्चे भी संस्कारी बने वो भी शिविर में जाएं हम बताएं कि देखो हम भी गए थे तुम भी जाओ एक दिन एक व्यक्ति मेरे को बोले कि जी आपके पास कोई पुस्तक हो तो दीजिए बच्चों को संस्कारित करना है अपनी कोई चिंता नहीं और चिंता होगी भी तो कह नहीं रहे यो क्या कि जी मैं कुछ सीखना चाहता हूं कोई पुस्तक दीजिए उसमें कौन सी शर्म की बात है उन्होंने नहीं जी बच्चों को सिखाना है ऐसी कोई पुस्तक दीजिए ठीक है बच्चों को आप प्रेरणा भी दे सकते हैं उन चित्रों के माध्यम से कि देखो हम गए थे अच्छा और कौन बताएंगे उपलब्धि बतानी है देखिये विषय पे केवल केंद्रित रहेंगे और जो अभी तक नहीं बोले हों पीछे से लेते हैं उनको दीजिए जब आपने बताया कि का कैलेंडर मैं आत्मा हूं को शामिल किया और नजर को नीचा रखे तो कई बार ऐसा इस प्रकार स्थान में एक अच्छी चीज बनती है वो भी कई बार बदले बदले बन जाती है बिल्कुल बैठिए एक स्थिति बनाते हैं हम ध्यान में जब हम एकाग्र होकर बैठते हैं आज हमारे इन्होंने ब्रह्मचारी जी ने पूछा कि जी खड़े खड़े भी ध्यान कर सकते हैं क्या हम बिल्कुल कर सकते हैं अभ्यास हो तो कर सकते हैं और ऐसे ही चलते चलते क्रियाओं को करते करते भी वो स्थिति बन बन सकती है क्योंकि मूलभूत बात है अंदर की हम आत्मा की अनुभूति में हैं हम परमात्मा की अनुभूति में हैं ध्यान साधना में जब हम बैठते हैं तो प्रयास करते करते करते हम वहां तक पहुंचते हैं कभी कभी थोड़ा छूते हैं कभी थोड़ी अधिक देर छू लेते हैं लेकिन यदि हम अंतर्मुखी हैं तो चलते फिरते भी हम वैसी अनुभूति कर सकते हैं जैसी कि कोई व्यक्ति साधना में करता है या कोई बहुत से तो साधना में भी नहीं कर पाते वैसी अनुभूति हम चलते फिरते भी कर सकते हैं अन्य कार्यों को करते हुए भी कर सकते हैं और ये साधक का लक्ष्य होना ही चाहिए और जो चलते फिरते ये अच्छी अनुभूति करते हैं वो बैठ के जब करेंगे तो वो और भी अच्छी अनुभूति कर सकते हैं जितना जितना हम अपने को केंद्रित करेंगे उतना अच्छा परिणाम हमारे को आएगा शुरू के कष्ट को अगर हमने थोड़ा झेल लिया बेचैनी को झेल लिया तो और कोई पीछे से दीजिए उनको कहिए कि आपका बड़ा धन्यवाद है कि आप हमको बचपन की तरफ में आते हैं और सबसे पहले छुट्टी पर मैंने को यही है कि आज लिखा था आंखों में गोबर का दर्द हुई हुआ आशा ठीक हुई और दूसरी खुशी हो रही है कि सेंटर जेल में जाने के लिए बड़ी क्या जरूरी है ये दोनों बताइए जब तक आप तो लोग में नहीं पाया उनके मैं दूस, दूसरी बात समझ नहीं पाया मैं एक दूसरी जो पहला तो आपने कहा भाई हाथ पैर में दर्द नहीं हो रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा दूसरा क्या कहा आ, दो दिन बचे हाँ ठीक है <laughs> आपको ठीक ठीक है बैठिए और कोई इधर से बताना चाहते हैं ठीक है चलिए दीजिए आज की अच्छी अनुभूति को बताइए केवल यहाँ पर हम दूसरी बार आए हैं पहले सम्मेलन देखने आए थे और लोग सामने आए थे चार दिन हो गए यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है बहुत शांति कर रही है हमको ये खुशी और उम्मीद है कि हमारे घरों में चार चार पेड़ हैं और हमको पढ़ने की फुर्सत देंगे सत्या प्राप्त पढ़ लिया तो आपने ये कहा तो शांति मिली पांडे से ही उसने बोला परमात्मा चिंतन करने से सत्या पढ़ने से आपको नंबर मिल जाएगी ये भी आप लोगों प्रत्येक बात और है मेरा प्रश्न का उत्तर दो कि हम सौरे गांव में बहनों के साथ जन्म जाते हैं आना में जाते हैं प्रश्न को आप जिज्ञासा समाधान में रखिएगा लिख करके दे दीजिए बैठिए बैठिए

ठीक है बैठिए बैठिए तो बाकी के जो दो दिन बचे उसको एक और अच्छी तरह से कि दो दिन का अवसर और है जो अच्छी तरह चल रहे हैं वो अच्छी तरह चलते रहेंगे और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे और जिन्होंने किन्हीं भी कारणों से पिछले चार दिनों में शिथिलता रखी है वो अगले दो दिनों में पूरे अनुशासन में रहने का आनंद लीजिए देखिए पूरे अनुशासन में रहने का आनंद क्या होता है अगर आप त्रुटियां करते हैं पता है कि ये नियम है और तोड़ते हैं तो मन पर एक विपरीत प्रभाव डाल ही लेते हैं अंदर विपरीत प्रभाव आ ही जाएगा वो ग्लानी को पैदा करेगा ही उत्साहित नहीं कर सकता भले ही हम कुछ ढंग से उत्साहित हो जाएं कि देखो हमने ये कर लिया और किसी को पता भी नहीं लगा कई जने इसमें भी बड़ा सुख लेते हैं गलती की देखो किसी को भी नहीं पता लगने दिया यही उनकी बहादुरी होती है लेकिन मन उनका शिथिल होगा ही कमजोर होगा ही मन में घुण लगेगा ही नहीं बढ़ सकते आप में से जो भी कोई गलती कर रहे हो अभी जो न्यूनता उसको ठीक कीजिए और अगले दो दिन को अच्छा करेंगे तो आपके मन में ये गिलानी नहीं होगी कि मैं छह सात दिन वहां रहा आठ दिन रहा लेकिन किया नहीं मैंने न जाने आप में से किसी को दोबारा शिविर में आने का अवसर मिले या ना मिले जीवन की व्यस्तताओं में लग जाएं सालों बाद में फिर जब इच्छा हो तो हो वो शिविर था और मेरे को उस समय मैं अच्छी तरह कर लेता तो बहुत अच्छा रहा आप में से जिन्होंने कुछ खाने पीने की चीजें अपने पास रख रखी हो या निषेध है जो खाना है वो वहीं खाना है और या खाते हो अगर कुछ सात्विकता के भाव जगे हो तो उसको लौटा दीजिएगा हमारे व्यवस्थापकों को दे दीजिएगा ये मैंने अभी तक रख रखा था मैं खाता था या खाती थी इसको मैं लौटा रहा हूं आप में से जिन्होंने मोबाइल आदि रख रखे हैं अपने पास में चोरी छुपे बात कर लेते हैं अगर कुछ सात्विकता आई हो और भाव जग रहा हो तो निसंकोच दे दीजिएगा डरिएगा नहीं क्या कहेंगे कि इन्होंने छुपा करके रखा था आप आगे होके देंगे हमें प्रसन्नता होगी एक पवित्रता का भाव आता है कि भाई चलो अब तक गलती कर रहा अब नहीं मुझे बताना है मैंने ये गलती की और ये मैं वापस दे रहा हूं आप में से कोई सज्जन है जिन्होंने जिनके पास में मोबाइल आदि है अपने पास रख रखे तो आप लोगों को ये सूचना नहीं थी कि यहां देना होता है नहीं भले ही बात नहीं करते भले ही बात नहीं करते बंद करके रखते बात करते हो या नहीं करते वहां आपको सूचना दी गई होगी इसको दे दो दे देना चाहिए और बहुत से तो रखते हैं और बात भी करते रहते हैं अध्यात्म के मार्ग में चलने में झूल झूठ छल कपट तो उसको आगे बढ़ा ही नहीं सकता दुनिया का और कुछ भी काम बढ़ता हुआ दिख जाए अध्यात्म तो बिल्कुल नहीं चल सकता जो झूठ छल कपट में है किसी भी तरीके से किसी भी कारण से उतनी उतनी बाधा वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति में मार्ग में कर करेगा ही कर ही रहा है वो उसको बांध के रखेंगे बढ़ नहीं सकता वो संभव ही नहीं है ये रास्ता ही ऐसा है चाहे हम व्यावहारिकता के नाम पे झूठ बोलें छल कपट करें या किसी परिस्थिति का नाम लेकर के कहें कि ऐसी स्थिति थी इसलिए किया अध्यात्म में तो बाधक बनेगा इसमें सरलता सहजता ईमानदारी जितनी ज्यादा आप रख पाएंगे उतना अच्छा नहीं तो कई जने धार्मिक कार्यों में जाते हैं और अपने कार्यालय से वैसे ही उठ करके आ जाते वहां रहना था उठ करके आ जाते ये कहा जा रहे हो जी धार्मिक कार्य में जा रहा हूं बड़े धर्मात्मा है कई जने शिविरों में आने के लिए छुट्टी लेते हैं छुट्टी कैसे लेते हैं छुट्टी है ही नहीं कैसे ले आध्यात्मिक रुचि बहुत है तो बोले रुग्णता का प्रमाण पत्र दे देते मेडिकल ले लेते हैं आप में से है कोई छुट्टी मिल नहीं रही है आध्यात्मिक तड़प है क्या करें चिकित्सक भी बना देते हैं झूठा प्रमाण पत्र और मेडिकल लीव लेके आ जाते हैं कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्या हाँ जी सीधा कहेंगे तो फिर तो पैसे कटेंगे हमारे बिना वेतन के हो जाएंगे अब ये मूल में ही भूल हो जाती है सोच तो ये रहा है कि मैं देखो कितना आध्यात्मिक हूं कि मैं जा रहा हूं लेकिन ये मूल में भूल करके आएगा लाभ नहीं देगा उल्टा भ्रांति रहेगी भुलावे में रहेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं क्योंकि मैं शिविर में जाके आ गया मैंने धार्मिक कार्य कर लिया भुलावे में तो जरूर रहेगा ये और बड़ी हानि है जिसको ये पता है कि मैं गलत हूं वो उसके तो सुधरने की संभावना है और जिसको ये लग गया है कि मैं तो सही हूं गलत होते हुए भी वो क्या सुधरेगा इस मूलभूत बात को ध्यान में रखिए आप आगे कुछ ज्यादा कर पाए ना कर पाए जितना करें ईमानदारी से सच्चाई से बिना छल कपट के जितना कर सकेंगे और उतनी ही अध्यात्म में गति है तो आज का विषय इतना ही रखते हैं कोई सूचना